और यहूदियों ने कहा है कि हमें गिनती के चंद दिनों के अलावा आग हरगिज नहीं छुएगी आप उनसे कहिए कि क्या तुमने अल्लाह की तरफ से कोई अहद ले रखा है जिसके बिना पर वो अपने अहद की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता या तुम अल्लाह के जिम्मे वो बात लगा रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं